तुमने तो दी अंगूठी है मुश्किल कोशा अली और हाथ मेरे कट गए शेर खुदा अली इमदाद मेरी कीजिए या मुर्तगा अली वरना तड़प तड़प के मैं मर जाऊंगा अली दिल हिल गया ये सुन के जुल्फिकार का दिल हिल गया ये सुन के जुल्फिकार का अर्श बरी लरज गया परवर दिगार का अर्श बरी लरज गया परवर दिगार का लेकर गदा को साथ अली शाह नामदार काजी के पास पहुँचे बसद शान इफ्तिखार गुस्से के मारे सुर्ख था मुबू तुराब का गुस्से के मारे सुर्ख था मुबू तुराब का होता है जैसे सुबह को रंग ताप का होता है जैसे सुबह को रंग ताप का फरमाया ये अली ने काजी से ये क्या किया एक बेगुनाह फकीर को ये जुल्म नारवा तूने बड़ी खता बखुदा की है काजी आज अंगुष्टरी फकीर को मैंने ही दी है आज काजी ने नान सास को और उस सुनार को बुलवाया फिर तो चश्मे जदन में है मोमिनो बोला सुनार मेरी कसम पर यकीन करो देते हो तुम हलफ जो मुझे हाथ में तो दो बोला सुनार मैंने अंगूठी बनाई है बोला सुनार मैंने अंगूठी बनाई है जो बात साफ साफ थी मैंने बताई है जो बात साफ साफ थी मैंने बताई है फरमाया यूं अली ने जो तूने बनाई है ला रहे फिर तो तोड़ भी सकता है तू इसे लोहे का घन मंगाया वही शाहिदीन ने और दे के घन कहा कि अंगूठी को तोड़ दे साबित रही अंगूठी किया घन का जब के वार साबित रही अंगूठी किया घन का जब के वार लगते ही वार गर्म निकलने लगे शरार